कौन ब्रह्मा का पिता है कौन विष्णु की माँ शंकर का दादा कौन है हमको दे बता ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर फिर यहां भी कहते हैं एरन पीठ है थैड़ो घड़िया जाओ पर सारा झड़िया मौनी मूर्ति घड़ी ठठेरे कैसे आई हृदय तेरे एरन पीठ है थड़ो घड़िया जाओ पर सारा झड़िया यो भी वैदा है आज तो भगवान मान लिया हर काल उसने लोहार पीटा था गेर कहने छीणी मारे था उसके थोड़े मारे था मोगरे धरे था ई परमात्मा स्वरूप मान लिया बंदी छोड़ के हैं देखो आदर के लिए मूर्ति चाहे पत्थर की हो चाहे कागज की हो और वह क्या है कि ऊपर केवल उसी पर आश्रित मत रहो ये न पूजा यह ईमान रखी है कि उसका तिलक ला दे पानी चढ़ा दे और न फ्राम हो गया नहीं बीरा ये तो आदरणीय मूर्ति होती है उस पानी चढ़ाता अच्छा था अपना अहंकार रूपी राक्षस तो खत्म हो उनका अगर तो लंबा लेट रहा पर परमात्मा इसी मतलब उद्देश्य को लेकर नहीं चलना कि यू ये काम तो तेना भगवान मिल जाएगा नहीं परमात्मा पाने का और साधन बताया जो कि तूने करना पड़ेगा इस आदर के लिए आदरणीय होती मूर्ति ऐसी बात नहीं किसी भी संत की है तीर्थ बर्तों फेरे खुलासा हम्म। पत्थर पीतल से कर नेहा भूल गए नारायण देहा आत्म तत् मरम न जाना पूजत फिर जड़ पासाणा काले मुंह का पत्थर गोली व मूर्ति तुमसे ना बोली खान पान को पाती तोड़े मोहन भोग आप लोड अब आपने सुना होगा ना कि महाराज स्वामी जिया ने दानंद जिया ने बहुत मूर्ति का खंडन कर रखा खंडन तई न कर रखा कितने सुथरे ढंग यथार्थ जो का तो इन और विशेष रूप से कर रखा है बिल्कुल तय दिल से और उस समय कर रखा है जब मुसलमान ना का गढ़ था ईबता मेरा कैसा कोई बंटे जाओ पर उस समय कह के देखते जो दे जब मुसलमान और अंग्रेज अंग्रेज तो खैर नहीं मुसलमानों का राज्य था तीर्थ बरतों फर खुलासा जो पानी गल जात पतासा वो तालब सपने नहीं आया अष्ट कमल दल खोजी ना काया ये अष्ट कमल दल यानी अपने अंदर जो कमल है आपने ये नहीं खोजे अरुण पत्थर पूजता हंडे गया ये बताओ के कह बंदी छोड़ के भगवान भीतर वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विद लाग गए हाथ भाई भेदी एक पलक में पा लिए कोई भेदी ले ले साथ हो गुरु भेदी हो वो आपने वस्तु दिला दी सात धातु का सात धातु का पिंजर पिंडा जा मैं सकल दीप नौ खंडा इस शरीर में सारे नौ खंड सात दीप सब कुछ दर्शन कर ले सात धातु का ये पिंजर पिंडा शरीर जा मैं सकल दीप नौ खंडा अर्दम दम जगाया नाही ताते लख चौरासी दाही अर्दम यानी सांस भारत के सैस इक्कीसो लेख लावो इक्कीस हजार छह सौ सांस है अपने आप जप के देख लो एक घंटे में 900 सांस आते हैं हमने खूब कपित कई वो परख के देख लिया स्वाभाविक बैठे हुए के तो खेच खेच के नहीं जो स्वाभाविक आते और 24 घंटे का हिसाब ला लो तो इस प्रकार महाराज कहें कि हरदम दम जगाया ना ही हरदम दम सांस गेलना नाम जाप नहीं किया ताते लख चौरासी जाए इब कार्तिक मास महात्म नाम गया पिरागों पिंड भरवावे रसना राम रटा ना कोई अगली पिछली सब ही खोई इन महान डेंगा रसना यानी जीव से भी ईश्वर स्तुति नहीं करी राम राम यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म की तरफ से अगर उपासक जो तीन लोग के वो भी हरियम ना, जो बंदी छोड़ इन दे रखे नाम पांचों तो ये भी जपने चाहिए मुख से और ये भी नहीं जपया तो अगली पिछली सारी एक हो आप देखा होगा कई साधु बहुत अच्छी कमाई करके चले मतलब अपनी सिद्धि दिखाकर चले जाते हैं और दुनिया मानना शुरू कर देती है और अंत समय में वो इसी दुर्गति होकर मरस से पूछ मतना उनकी तरफ देखा नहीं जाता तो अब देखो अंत समय में इतनी भक्ति करनी है कि, क्यों बढ़नी चाहिए थी घटनी नहीं चाहिए थी महाराज के वो पछली थी वह खाली अपने जन्मा की कर रखी थी अरे बीरा जीरो होकर जा रहा है तम चरण शब्द के शब्द तो ऊपर समझ लो एक समय की बात है देख गरीबदास जी कितनी गहराई में लाए बात को एक राबिया नाम की लड़की थी मुसलमान के घर में जन्म और उसने पिछले जन्मा में इतना तप कर रखा था ज्योत निरंजन काल का अब चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू जाप तीन लोग ताई के भक्ति से उनकी फालतू नहीं है और तप से सिद्धि हो जा से उस लड़की के मन में ये हुआ कि तू मैं शादी नहीं करवाऊंगी कति रुचि नहीं बनी और अपने माता पिता तो कह दिया कि अल्लाह की कसम मैं शादी नहीं करवाऊंगी ये मां बाप ने बोले बेटी हम घर नहीं रख सकते शादी कर दी अपने पति से जाकर कह दिए कि मियाँ जान मैं ब्याह नहीं मन शादी जरूर करवा ली पर मैं गृहस्थी नहीं करूंगी ना मन बच्चे पैदा करने और नहीं मानोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी कुएं में मार दूंगी अब वो बहुत अच्छा बड़ा अच्छा अफसर बताया बंदी छोड़ने रखा बहुत बड़े साहब के साथ ब्याई थी वह उस समझदार था ने बोला अब देख राबिया बात सुन ले घर ते बार तो जान नहीं दू क्योंकि हमारी इज्जत है दूसरी बात यह कि शादी में और करवा लूंगा तो मेरे बहन के रूप में रहे पर रहना पड़ेगा घर ने बोली ठीक समन मंजूर इस तो बढ़िया और कैसी है दो रोटी चाहिए मैंने तो अपनी इस अल्लाह स्तुति करूंगी पांच पांच में नमाज पढ़ती जब वह पचास पचपन साल की होली जब ने बोली थी मुझे एक अर्ज हाथ से क्या कि मैं हज कराऊं मक्के में जाना चाहती हूं वह बोला उसने सारा हिसाब लाया कि यह बेचारी आंख भी ठाकर नहीं देखती और कोई कोई इसमें विकार नहीं कि तुम मना करेगा तेरे कैसा पापी नहीं तो बोला वे सक अरबिया और पैसे ले जा वह पैदल चल पड़ी पैदल चल रहा करते थे वह चलती चलती एक मरुस्थल में जारी थी रास्ते में कुतिया बहुत प्यासी एक दो चार उसके कूतरू और इसी जगह ब्यारी के बहुत दूर आसपास पांच सात किलोमीटर तय कोई गांव नहीं था और एक कुआ वह एक बार तराबिया तो के पायाम आवे चरणों में मुंह टेकर फिर भाज के कुएं का नहीं और बहुत बुरी तरह होकड़ी लग रही इसके जेठ का महीना राबिया ने सोची कुतिया प्यासी है जाकर देखा कुएं पर ना डोल ना बाल्टी अब समंजस में पड़ गई भाई अगर इसको पानी नहीं पिया तो इसके बच्चे मरेंगे या मरेगी दया बना दरवेश कसाई जिसमें दया नहीं वो संत नहीं है आप देखा ना ताप तो देखा अपने बाल पाड़े सारे छोरी ने लंबे लंबे बाल थे लड़की ने सारे बाल पाड़ के उसकी जेवड़ी बांटी बांट के बहुत लंबी जोड़ी पतले पतले बाला की और फिर उसने अपने कपड़े काट के और कुएं में डबो के उस कुतिया को पानी पिया लव लवाण होगी और पैर के कपड़े जब चालन लागी नो को मक्का उठ के और राबिया का आगा अटक्या उसमें चढ़कर उसने शीश निवाया उठ का मक्का अपने स्थान पर चला गया तीन मंजिल यानी साठ किलो एक सौ बीस किलोमीटर लगभग मील वो अपने आप उठ का आ गया और वहां जा धरा इतनी सिद्धि उस लड़की में पिछले तप अनुसार थी अब उसके लकी बने से अगले जन्म में वह बांसुरी नाम की बहुत प्रसिद्ध गायिका हुई अरब कंट्रीज के अंदर मुसलमान धर्म शब्द सुनाया करती अल्लाह खुदा के आपने देखे होंगे कई बहुत सुंदर सुरीले शब्द गाते हैं कबीर साहब के लेकिन वस्तु नहीं बेचारा दो रहे अगला जन्म और दुखी होगा जो सही नाम नहीं होगा तो मेरे गीत गाए भी काम नहीं चलता अगले जन्म में उसी राबिया का जन्म गरीबदास जी के एक वैश्या का हुआ वैश्या बनती है वैश्या का जन्म भी पूरा हुआ अगले जन्म में हुआ फिर लड़की शेख तकी के कमाली रूप में उत्पन्न हुई उसके पिछले पनों अनुसार उसके चार जन्म मनुष्य होने थे स्त्री के और साढ़े चार वो बारह साल की होकर सवा चार जन्म थे वह मर जाती है वही आत्मा अपने शरीर को छोड़कर चली जाती है नरक भोगन में चार हो रही और बंदी छोड़ कबीर साहब ने उस शेख तकी की लड़की को कबर फुड़वा कर जब शेख तकी ने कहा था कि मेरी लड़की ने जिंदा कर दे जब जानो तू खुदा है उस उसके कारण उस लड़की को खुदवाया उस कबर को और वह लड़की जिंदा करी और उस लड़की को उस राबिया की फेर मुक्ती हुई जब कमाली रूप में कबीर साहब का सतनाम सार नाम लेकर जाप कर लिया अब बता इतने डड़े डहोगे इस तो पहला क्यों ना सिद्धिया का नाम ले लो वही नाम हमारे पास है कबीर साहब ने गरीबदास जी को दिया गरीबदास जी ने हमारे संतों को दिया उन संतों से उनके शिष्यों से आता आता हमारे पास पहुंच रहा है और आज उसका प्रमाण से कि दो साल के अंदर सात आठ हजार व्यक्ति इस बंदी छोड़ के उपदेशी हो चुके हैं और आज उनके आप गुण पूछ सकते हो उनके घर में के के शौक हो जा सकते अब शेख फरीद का आपने कथा सुनी शेख फरीद ने बारह वर्ष तक नारा किया खड़ा होकर नारा किया आखिर में कबीर साहब की शरण माँ का पांडा छूटा गोरखनाथ की आपने सुनी इतने बड़े सद हुए थे इनका बराबर ये के सद से जो आम अपने आप ने दुनिया ने बनाए बैठे हैं और उस गोरखनाथ ने कबीर साहब के चरणा में माथा रगड़ा नाम लिया राज गोहे नानक साहब कबीर साहब कहता है कि कबीर गोरखनाथ कहता है कि कबीर साहब के बराबर धरती पर कोई संत यानी शक्ति वाला नहीं है नानक साहब को कबीर साहब ने नाम दिया वो उसके उपदेशी हुए नानक साहब कितने महान संत हुए हैं अब हमने उसको एक कवि समझ लिया किसी ने उसको भगत समझ लिया उसकी लीला नहीं सुनी तो हमारे मन में वो परमात्मा की संज्ञा में नहीं आया तो अब आप सुनोगे तो इस प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं यो है रसना कार्तिक मास महात्म नाव गया प्रिया गो पिंड भरवा रसना राम रटा ना कोई ही अगली पिछली सब ही खोई ये नो खो के दास अगली आपने हमने एक और देखा एक मूंडसा के अंदर संत हुए हैं उनका नाम था खुबीदास जी नो कहे बचपन से सिद्धि दिखाने लागे थे और अंत में क्या हुआ दो साल कीड़े पड़कर मरा ये बतावा सिद्धि बढ़नी चाहिए थी घटनी चाहिए थी अगर सतमार्ग था तो भाई इस बोलना टूट जाएगी तो भक्ति कर लेंगे ना तो कति डले ढोकर जो के तो पहला तो रुचि नहीं बनती रुचि बने तो इस काल ने कहा था कि बारह पंथ इसे अटपटे चला दूंगा कि समझ में नहीं आओगे रास्ता सह की प्रथम तो ये उड़ जा दिया फिर संत मता चला इसमें बारह तेरह नकली चालू कर दिए ये बता कित तो जाओ बोली बड़ी आत्मा इन्हों का नाम ले रहा था बसाम उसने नो कहा ना भाई उड़े ठीक कौन काली और मान जा नो को तुम तो अच्छे हमारे गुरु आने बेसराओ हमने थारे गुरु बेसरा के या थारी हम गुरु नहीं बेसरा दे गुरु नाम बुरा कन दे हो नो कंदा नकमा से गंदा से तो बेसरा हम विधि बतावे गलत अगर गलत विधि से आप सुमरण कर रहे हो और फिर नहीं जचती है तो शास्त्रांत तो मिला लो किसी पर मिलवा लो तो ये बुराई समझ लो और चाहे इसने सच्चाई समझ लो चाहे अच्छाई है तो भलाई पर अनदान व्यक्ति बुराई समझते पांडे पाठ पढ़े बो भाती ये है जमकिंग करके नाती सुतक पातक जीमन जाही सात जन्म सुख करके पाही अब बताओ भाई इसी बूंदी द्रुपति उनकी होगी जो आज अपने आप में पंडताई करते ईरता नहीं करते बहुत समझदार हो गए एक आधा कौन जान बेसिक रह रहा हो क्योंकि महर्षि दानंद भी पंडित थे और इन्होंने बहुत समझाइश को खूब खोटी खोटी कही कि ये पंडित नहीं कसाई है खुद पंडित होते हुए उनको कसाई कहा क्यों कहा और काली जो नहीं मानी क्योंकि खुद वो पंडित थे और कोई कह दे उन्होंने माने सिर फोड़ दो और एक बस्ती राम जी हुए हैं अंधे थे पंडित थे उनकी ये बताते हैं कि वो जब गांव उसका एक साथी था वो गेलरा करदा लठोड़ी पकड़ा था उसकी नो बोला जो बमणा के घर आ जाना मेरा आंगली ला दिए उसके लो दे उसका आंगली ला दें दे और नो मुंह का पल्ला कर लेंदा हो नो बोला रख कसाइया में आ गया के नो बोला नहीं पंडित जी बम ये बोला दादा ये तो पंडिता के घर से रेड डगा थोड़ा सा मैंने तड़ तो दम घुटे से मेरा तो उन सुना सुना कर पर से दे बेचारे क्यों काली नो नहीं मानते कि भाई वो अपना पंडित भाई से तो इस प्रकार फिर ईब गुण गावे से वो व्यक्ति उनके अनुयायी के मारी चौंद तो दादा बस्ती राम तोड़ गए नहीं तो सीधे नरक में जान दे अपना करके खावा के जरूर से दुनिया का उनके पल तो सारा कुण बह टिकट पाथा है फिर अपना खावा और मारे बड़दान वो आंडे जा ले ले, ले पंडित जी तारा जी जिमिए सर उनके बड़दान वो ले गल जोड़े फिर बेरा पट गया था ना तो वो कुछ छोड़ दी उन्हें बेचारा नहीं वो और पंडित जो पंडताई करे थे झूठी करे थे साची करे बाकी कोई पंडित नहीं है सब अपने जाति भाई हैं मनुष्य जाति भाई एक जात सा अपनी मनुष्य तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं पांडे पाठ पढ़ बो भांति ये हैं किंकर के नाती सोतक पातक जीमण जाही सात जन्म सुवर के पाही अब मरे पर भी खाओ ओए पर भी खाओ तो ये नौके सात जनन सुअर के होंगे इनके अब इसे मुकदमे तो बचावा बंदी छोड़ उसकी काली मान है अपना करके खाओ भाई क्यों खाम खा को विदमा पा देते हो पहर जनेऊ फूले फाले बामण होकर बहुगर घाले उजड़ खेड़े जोटा मारा ताते ब्राह्मण का मुंह काला किसी ने बंडा दें दे तेरा छोरा हो जाएगा जोटा मरवा दे है और किसी ने कह उसके बाड़े में आग ला दे उसकी गान की पुछड़ काट लिया तेरा लड़का हो जाए और लड़का हो भी गा तो उसका बाप होगा उन सारे मारेगा का डाकू बनेगा तो बात ये है कि हमने रास्ते का नहीं बेरा और कहे थे तो काली मान्या बंदी छोड़ की तो इस प्रकार है यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यू जाना भैरव भूत बिता ये है भैरव भूत बिताला पैरे रुद्रक्षों की माला चंदन चीते तिलक बनावे बैठे गड़गड़ गाल बजावे यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैधा क्यों जाना हम सतगुरु भेंते न्यू जाना रगियज शाम अथर्वण भाषे बाखें लादे बैलर टट्टू हाकें खर की जून धरोगे देही भूल गए हो शब्द स्नेही असली सतनाम को भूल गए और ये नो ये चारों वेदन ठाए फिरो कुछ नहीं सारा लगेगा जब तक सतनाम का जाप खर की जून यानी गधे बनोगे साना मुर्का प्रहलाद पढ़ाया भक्ति हित पांडे नी आया अरना कुछ छाती तड़वाही ब्राह्मण बाण और कर्म कसाई बंदी छोड़ने कैसे करना कुछ भी ब्राह्मण था पर बात समझ में नहीं आई प्रहलाद का आ गई पर उनके नहीं आई और ब्राह्मण होके हरना कुछ ब्राह्मण और काम इसे ढूंढे कि सारी दुनिया को कह दिया मेरा नाम लो विष्णु जी भी छोड़ दिए असली परमा, परमात्मा का जो नाम था तीन लोक के मालिक का वो भी छोड़ दिया उनका मेरा नाम जपो और फिर छोरा मरवा मरवाना चाहे अपना और जो नहीं नाम लेता उसकी नाड़ काट देता क्योंकि ब्राह्मण बाणा नाम ब्राह्मण धर्या कर्म कसाई थे बूंडे इस प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं ये गलत से भाई रास्ता ठीक नहीं था रहा अरणा कुछ छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई बरगोलता भगवान रावण ब्राह्मण बौतप कीन्या महादेव की दीक्षा लिन्हा रामचंद्र की सीता हरिया दस मस्तक मूंधे मुंह हने पड़िया अब रावण भी ब्राह्मण था हो विद्वान को ब्राह्मण कहते हैं कोई जाति से नहीं और फिर उसने खोटा कर्म के कर दिया यानी सीता ठाली दूसरे की पत्नी को ठा लेना ब्राह्मणा काम से यानी ये कर्म अच्छे नहीं थे फिर उसके बदले में उसका के हाल हुआ फिर कहा बरगुलता भगवान कमारी जुगन जुगन यो भय भखारी यो देखी ये देखो ऐसी हुई ना हुई जुगन जुगन ब्राह्मण गुरुद्रोही बरगु ने ऋषि बरगु हुए हैं और भगवान विष्णु जी की छाती में लात मारी और विष्णु जी ऋषि के पान पकड़ कर बोला हे ऋषिवर चोट तो नहीं आई इतने सतोगणी हैं विष्णु भगवान के छाती में लात मारी और नो कहे उसके पांव पकड़कर रोड़े मेरा तो बद्र कैसा शरीर था आपका कोमल पैर था ए ऋषिवर चोट तो नहीं आ गई फिर भी शर्माया नहीं निमरोड़ करके चाल पड़े बत, बात यह है सतगुरु महाराज की कि दरगुलता भगवान लात भगवान कमारी जुगन जुगन यो बहे भखारी यो देखो ऐसी हुई ना हुई वह ना हुई जुगन जुगन ब्राह्मण गुरु यहां जाति से ना समझना ब्राह्मण वही जो ब्रह्म पछाणे जैसे हमने बताया कि हमारे दादा गुरु जाट थे छावले के गोपालपुर में आज उनका आश्रम है पंडित चिदानंद जी के नाम से जाने जाते हैं और एक गुरुकुल खानपुर के अंदर भी एक जाट को पंडित जी कह से वो गुरुकुल का प्राचार्य रहा है इब रिटायर हो रही से तो उनको पंडित अगर वो गलत रास्ता मार्गदर्शन करते हैं वो ही बिसराए जाएंगे और नहीं उनके बच्चा ने कोई नहीं कहेगा इब वैद से कोई वैद हुआ और वो ठगया करता एक रुपये की गोड़ी के बीस रुपये लिया करता तो उस वैद को बिसराया से ना कि वंशजों को इवन के वंशज भी वैद नाम धरे हैं अपना फलाना राम वैद दकड़ा राम वैद इनको वैद बिसरावर वह काली माने तो उनकी गलती से वह गोली जान देखो नहीं सर के दर्द की भी और नाम पाछे लिख लिख रहे हैं वैद इसी प्रकार अपने पंडित वंशित हो जाने से अपने आप को महसूस ना करना वो जो बुरे रास्ते बतलाते हैं गलत साधना करते हैं उनके लिए सतगुरु ने कहा अब देखो आगे कितनी गजब कही से कि <clears throat> विश्वामित्र भी ब्राह्मण है ऋषि है विश्वामित्र सुन विस्तारा सोपुत्र वशिष्ठ के मारा वशिष्ठ भी ब्राह्मण है ये भी दोनों अनसराम और विश्राम कैसे एक समय <clears throat> सभा में बैठे थे तो वशिष्ठ जी ने बोला विश्वामित्र ने कि आओ राज ऋषि राज ऋषि कन्ने विश्वामित्र का आग लागी यूं बोला तुमने मेरे को राज ऋषि कैसा किया ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा नो बोला जी ब्रह्म ऋषि हो जाओगे तो ब्रह्म ऋषि कह दूंगा अभी आप ब्रह्म ऋषि नहीं हुए अच्छा तुम ब्रह्म ऋषि ना मैं भी नहीं हूं पर आप भी नहीं कहते इस जगह में विश्वामित्र के सौ लड़के थे सौ पुत्र थे सौ खत्म कर दिए फिर भी उन्होंने उसको राज ऋषि ही कहा एक दिन सोचा कि यू नहीं मानता इसने खत्म कर दू एक दिन चांद की चांदनी और वशिष्ठ के बहुत से शस विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे चांद की चांदनी में ऋषि आश्रम में बैठे और विश्वामित्र ने बेरा था कि यहां आकर वह स्तुति करते हैं संध्या करते हैं सामने इस वृक्ष के आसपास तो वृक्ष के नीचे वो ऊपर चढ़ गया उस रूख का कि एकदम उसका ऊपरे पड़कर उड़े दबोच कर बर्छी ठोक दिए बर्छी लेकर ऊपर बैठ गया नीचे अपने वाशिष्ठ जी आसन लाए बैठे उनमें से जब उनकी संध्या होली पूछा भाई कोई प्रश्न करो बेटो कोई बात हो तो एक बोला जी एक हमें बहुत दुख आ रहा है के भाई कि विश्वामित्र दुष्ट ने हमारे सौ भाई मार दिए न बोला रहा दुष्ट ना कहो भाई सौ लड़के मारे पाछे वशिष्ठ वो भी पंडित थे नो बोला रहा दुष्ट ना कहो उसके साथ धरती पर संत ऋषि नहीं है अगर उसमें थोड़ा सा गुस्सा ना होता तो। उसका चांद के सा मुखड़ा इतना सुंदर शरीर और इतना तपस्वी इस धरती पर नहीं बिरा इस बात ने सुनकर विश्वामित्र के हाथ काट गए कि तेरी यू बड़ाई करे और तने सो बालक मार दिए ऊपरे तय करद न्यारी छुट गई एक तरफ और फुंगड़िया में का पड़कर पाया में बुरी तरह रो पड़ा ने बोला मन माफ कर दो ऋषिवर मैं महापापी जीव सु जब हाथ ला कर बोले उठो ब्रह्म ऋषि आज ब्रह्म ऋषि हो गए आप में अहंकार नहीं रहा तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं विश्वामित्र सुन विस्तारा सौ पुत्र वशिष्ठ के मारा राज ऋषि से बहुत रिसाई फिर ब्रह्म ऋषि से रीज रिझाई ब्रह्म ऋषि कह दिया जब प्रसन्न हो गया राज ऋषि तो बहुत काली मान गया क्रोध मान गया और सौ पुत्र उसके मार दिए अब देखो बंदी छोड़ने ज्यो की त्यों कही है इसमें भाई महसूस ना करना सिर्फ यही बात है कि सुनन की हिम्मत रखे कड़वी दवाई मीठी हुआ करे और रोग काट्या करे आखिर में जाकर मीठी होगी हरिचंद सतयुग में थे राजा जिनके कौन बिगाड़ जा विश्वामित्र दी तरासी हरिचंद बांध बिकाए कांसी यो भी वैदा है आत सुमरणी पेट कतरणी गलम माला तिलक निसरणी जिसके लड्डू भगत कहा में दगड़ो बैठे फांसी लावे यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना अब देखो बंदी छोड़ बिल्कुल सही हिसाब से बतावे हैं एक बार कहते हैं कि अपने ऊपर तो असर नहीं कर दे दूसरा बात बनाई जग ठगया मन पर मोद जाना कई बार बता लिया आपको इसका एक उदाहरण बतावा एक पंडित जी रोज रामायण का पाठ किया करता था एक दिन किसी कारणवश उसने जल्दी में रेल पकड़नी थी सुबह नहीं कर पाया एक उसके साथ साथी था बाद का स्टेशन पर पहुंचे इतना में गाड़ी आ गई ने सोचा रेल में बैठ कर कर लिए पाठ अब पंडित जी अच्छा पांच सात तलक ला रहा अंगोत्सा बड्डा ले रहा जनेऊ पांच मोटे मोटे घाल रहा गल में और बस उस रेल के डब्बे में भीड़ बहुत थी तो वो पंडित जी कहने लगा भाई साथियों एक दया कर दो मेरे पे कि मैं रोज रामायण का पाठ करता था आज जल्दी में नहीं कर पाया मुझे थोड़ी सी देर आध घंटा स्थान दे दो इस पाठ सीट पर बैठकर मैं पाठ कर लू अब भगत आत्मा बतेरी हो उसने बोला भाई खड़े हो जाओ कोई बात ना पंडित जी बैठ जाएगा हम भी सुनाएंगे उसका तला चादर बिछा दी पंडित जी बैठ गया पाठ शुरू करता है उसमें प्रकरण चल रहा था कि देखो भाई भाई हो तो ऐसा हो जैसे भरत ने राज के ठोकर मार दी इतनी सुथरी त्रिया समझावे नो लतीफेदार बना के और भाई देख ले अपनी धरती में खड़ा बना के और खड़ाऊ धरती राज पे भाई भाई हो तो ऐसा हो बहुत लंबा प्रकरण दिया भाई लक्ष्मण कैसा हो राज छोड़ कर भाई के दुख में दुखी रहा बेबे परेन ले जाए छोरे आवाज आओगे तो वो कहने लगा जब वो पाठ पूरा हो लिया सब आकर्षित हो गए मीठी मीठी बातों से तो कहने लगे हे पंडित जी आपका गांव कौन सा से कहा से आए हो ने बोला फलाना गांव से अरियो नाम से कद्या भाई आप इसी इसी कथा रोज कहें से अगे हम भी करवाना चाह से कथा आप जैसे महान आत्मा की और बहुत बढ़िया से फिर ने बोला जी थोड़ी देर मारे गेल यहाँ कोई शहर आवास है उसमें हमारा मकान से वहां चालो बोला ना ई फुर्सत को पांच मिनट अगना मन टाइम नहीं है ईसा के हो गया आज की जाओ सो ओ तो बोलिया ना उसका जो साथी था उन्हें बोला यो अपने भाई पे मुकदमा कर रहा से अरे बिटोड़े के खडे पे और मैं गोवा आसू इसका इतने पोल पाट ली तो महाराज कहें बीजक की बात कहें बीजक ना ही हाथ है ये पृथ्वी डोबण उतर रहे कह मीठी बात है तो ये बार महाराज के बादशाह पुराण अठारह और उनका असर है नहीं पढ़ते पढ़ते कथनी बिना करनी क्या जाए तो इस प्रकार महाराज कहते हैं कि फिर आगे बहुत लंबी गहराई में ले गए आज आद अंत ब्राह्मण हलकारे जुगन जुगन इन जुलम गुजारे ब्राह्मण होकर कूदे फांदे कोरा नाज कड़कड़ा रांदे यो भी वैदा है फिर कहे बीसो हाथ से करे उनचा उचंका ये है राक्षस ये है दाने राक्षस लंका मरने से डरते नहीं डायन पांच शेर का करें लगायन क्योंकि किसी का जीवन जा कर देना जो पहला यानी एक दड़ी खा जाते मरो चे तीन सौ बे एक प्रमाण चाहे उदाहरण वैसे ही हो पर सच्चाई है आख्या देखी नहीं कोई वैसी बात नहीं एक दड़ी खा जाने का मरण तभी नहीं डरा कर दे ताता ताता चाहे किसी प्रकार भी खाते इसकी महाराज काली मानो तो भाई मानो तीन सौ साठ रुपए उस समय ऐसा प्रणकरण खूब मिलात करता ईब नहीं कोई इस काम ने करता उसी समय आज से ढाई सौ वर्ष पहले का प्रकरण है आज का नहीं है इब कह के बीस हाथ से पर उचंका ये हैं दाने राक्षस लंका मरने से डरते नहीं डायण पांच शेर का करें लगायण यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यू जाना फिर के हैं काचा पाका फूके फाके गलहड़ खाई और गुल झुल झुल झाके पेट टपोड़े रोटी चोटी रोड़े हडकार और ठड्डो बोले यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे न्यू जाना अब मुसलमानों को पकड़ा सतगुरु महाराज ने मुसलमान मद्दारी रौड़ा भूल गए हैं मुर्शिद मौला मुसल मुसलमस्त फिरावे पीरा पग में लंगर लोहो जंजीरा यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना ऊंचे आसन कान चरावे ऊंचे आसन कान चरावे बिल्लौरी मुद्रा पैरावे सेली सिंगी भगवान बेखा जिनको गिरही कहे आदेशा नौका इतनी मोटी संगमरमर की कोई काट की कोई पत्थर की मुद्रा गा लेंगे कान पड़वा लेंगे और उनको के कहे ऊंचे आसन कान चरावे गिल्लो बिल्लोरी मुद्रा पैरावे और सिल्ली सेंगी बे, बेखा जिनको गृहस्थी कहे आदेश आदेश महाराज नो कह उनको ये आदेश भी कहे कोई भी वस्तु साधन नहीं और आप भी नरक में अनुयायियों को भी नरक में ये सतगुरु महाराज कहें ਰਕਤ ਰਕਤ ਰਕਤ ਵਿਰਕਤ ਕਹੈ ਰਕਤ ਬਉ ਰਾਖੈ ਨਾਨਾ ਵਰਣ ਵਿਅੰਜਨਾ ਭਾਖੈ ਸਤ ਧਾਤੂ ਸਾਂਚੈ ਅਨੁਸਾਰਾ ਜਿਨ ਕੋ ਵਿਰਕਤ ਕਹੈ ਗਵਾਰਾ ਰੋਂਡ ਮੋਂਡ ਕੁਛ ਵੇਖ ਨ ਬਾਣਾ ਤਾਹੇ ਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਰਬੰਗੀ ਕਹਿ ਲਾਵੇ ਸੋਹੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਮੈਂ ਬਰਸ਼ਟੈ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਤੀ ਸ਼ਰੜ ਫਰੜ ਅਰਚਣੀਆਂ ਪਰ ਪੜਿਆ ਰੰਦਾ ਹੋ ਰਾਖ ਰਪੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੋ हाँ और नो आक्षी खोल ले को बांग मर को ना ले नो को चाहे ना हिंदू हो चाहे मुसलमान हो कहीं सर्वंगी महात्मा सही हो सही सूर जंगली खाते हिंदू भूल गए बहु बाणा भोंदू हरि बरहा धरे अवतारा जिनको भक्षण करें गंवारा बंदी छोड़ने के हैं कि भाई ये हिंदू होकर और सूर खावे देख भगवान विष्णु ने बरहा रूप धरा था अरे उसकी इतनी कान राख लो जो भगवान ने भी सूर का रूप दिया था रे ने फिर भी तुम सूर खाओ अर्थात किते तो बक्सो तो हिंदू बने फिरो और फिर सूर जंगली खाते हक हक कर करते हक का तीसो मुसलमान मद्दारी रोला भूल गए हैं मुर्शिद मौला मुसलमस्त फिरा में पीरा पग में लंगर जो हो लो हो जंजीरा हक हक करते हैं हक का तीसों रोजे साबत रखा सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी उस दरगाह में होगी खवारी तीसों दिन तक भूखे मरे हैं और सांझ ने मुर्गी मार के खा ले यू के व्रत होया भाई के रोजा हुआ ये सतगुरु महाराज के काजी खलक मुलक को देखो सब गट एक बाणा पेखो गौ बिना से आदम खोरा काजी मुल्ला गारत गोरा कि कहते हैं गौ बिनासे गौ मारे आदम खोरा आदमिया का भी टाल नहीं जो मांस खा सक क्या का भी खा सकता है मुसलमान इन ईमान नमकी कीजे पर द्वारे गल छुरी न दीजे <clears throat> भोजन छाड़ रही रुधिर क्यों खाई ही दया बिना दरवेश कसाई मंदी छोड़ के हैं मुसलमान ईमान कर भाई और देखे दूसरे की नाड़ पर छुरी ना दरे अपनी जैसा दर्द अपने हो से ऐसा जान बिराण तो मुसलमान ईमानम कीजे पर द्वारे पर दूसरे के गल पर गला छुरी ना दीजे अनधन भी काजू खा ले किशमिश खा ले सेब खा खीर बना ले मालपूड़े बना ले देख कितने सुथरा दही खा क्योंकि रुधि भोजन छोड़ रुधिर उस लहू ने क्यों चाटे बीरा मांस क्यों खाता भोजन छोड़ रुद्र क्यों खाई फिर दया बिना दरवेश कसाई जिसमें दया नहीं वो साधु हण का अधिकारी नहीं है यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु हैं ते यूं जाना अब जैनियों को लेते हैं जैनी जोग भी जोगम सादा भूल गए उस अगम अगाधा बिना बंदगी झूठा रिसका वैसा पुत्र कहा वह किसका फिर कहते हैं जैनी जैनी जीव दया बहुबाणा और कर्ता कर्म कह अज्ञाना जातत सेती एता होई परमानंद लख्या ना कोई कहते हैं मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं नंगे चलते हैं बहुत अच्छा दया भाव दिखावे हैं लेकिन बीरा जीव तो फिर भी मरस मुंह पर बांध लिए तो नाक में का सांस लो सुबह कौन से उड़ते फूल बनकाओगे वह भी मरे उसमें यानी अपनी अपनी साधना करने से रास्ता नहीं फिर वो नाम नहीं सही उपासना ठीक नहीं तो यह इसीलिए कैसे काया माया सकल मिथ्या ये है तो सही ज्ञान की संख्या पार ब्रह्म जानानी नेरा बिना बंदगी सकल बखेड़ा पार ब्रह्म यानी ब्रह्म से ऊपर की स्तुति से जीव को लाभ होगा मेरे ब्रह्म तक काम नहीं चलता मुख मुंदे हैं मुर्द फरोसी जिनसे सायब है सो कोसी मुंह मुंदारण तो मृद फ्रोसी मुंद है और जिन तो परमात्मा सो कोश है ररंकार रंगीनी रसना जिनकी कैसे मिटे तृष्णा उनकी नौका कैसे आशा मिटेगी असली सुमरण ररंकार यानी जो मरते हुए भजन कराया रहे परमात्मा का न्यो नहीं करते यो भी बैदा है बैदे से भेष अदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे न्यू जाना अब क्या कहें जति सेवड़े जैनी जानो सकल ढूंढिया रूप बखानो पार ब्रह्म की नाही आशा ये चौबीसों जा निराशा इनके चौबीस पैगंबर हुए हैं जैनियों के भी चौबीस वो हुए हैं दिगंबर महात्मा नो कहीं चौबीसों भी नरक में जाएंगे इनका प्रवर्तक जो जैन धर्म का वो ऋषभ देव था ऋषभ देव जी ने इतनी भक्ति कर ली राजा था वो और अपना लिंग शरीर बना लिया एक ज्योत में शरीर होता है लिंग शरीर जो शरीर छोड़ दिया लिंग शरीर में प्रकरण दे रखा सुख सागर में कि वो ही ऋषभ देव बणमण में घूमन लाग गया मुंह में पत्थर का टुकड़ा दे के और अपने आप को सद समझ लिया आखिर में आग लग जाती है बांसा के आपस में रगड़ा लग गए दावानल और वो ऋषभ देव उसमें जड़कर मर जाता है उसके अनुयायी जैनी है अब जो प्रवर्तक की ये दुर्गति हुई भाई उनका की हाल होगा ये समझ लिए अब इसकी नाराज होने की आवश्यकता नहीं होया करती अब आगे सुनियो जैनी जुलम गुलम योग जैसे चित्र विचित्र पतरा पोती बिना बंदगी है सब थोची जंतर मंत्र दात बदंगा बिना नाम झूठा सत्संगा ज्ञान विचित्र जोग अपारा सर्व लक्षण लक्षण सबके सिरदारा रग यजुशाम अथर्वण भख जाम नाम मूल नहीं रख देख तोड़ कर दिया के रग यजुशाम अथर्व ये चारों भेद रग यजुशाम अथर्वण चारों पढ़े पर ओम नाम इसमें मूल से पढ़ पढ़ के चारों याद कर लिए चतुर्वेदी तीन याद कर लिए त्रिवेदी दो याद कर लिए वेद द्विवेदी पर नौका मुक्ति ना हो भाई इनसे तो गोटले पर इसका सार जानकारी होनी चाहिए चाहे ऊपर पढ़ के उसको सार समझा समझा दे पर उसमें कहते हैं रगी शाम थरुण भाखे जाम नाम मूल नहीं राखे मूल कैसे असली तत्व जड़ ओम नाम इस तीन लोक का ब्रह्म का आखिरी उपास्य नाम है मंत्र है और इसको हम भी जाप करते हैं क्योंकि बीए करें बिना ए नहीं कर सकते और फिर एम ए करें बिना यानी ऊपर की जो ऊपर है फिर पीएचडी या जो भी करनी है और फिर वस्तु जब पालेगी जब सुख समझेगी तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं रग युग शाम अथर्वण भाखे दाम नाम मूल नी राखें और ओम भी फिर नो कहण तनी बात बन दी ओम ओम ओम ओम और कई नो साधक बताओ बोला नो जप्या करो और बिला फिर अड़गूंज होगी थारे सतगुरु महाराज कहते हैं ये सब बंडाण की बात है उसका नाम सुमरण ठीक नहीं फिर गुरु बिना बात नहीं बनती सही गुरु हो जो तो उसने उपलब्धि कर राखी हो और वो सांस से सुमरण बताया एक बार मौखिक जाप हजार बार मौखिक जाप एक बार सांस का मानसिक जाप और एक बार हजार बार मानसिक जाप एक बार सांस का जाप इतनी कीमत से सांस के जाप की श्वासा पारस भेद हमारा जो खोज जैसो उतरे पारा बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि सांस सांस में नाम जपो वे व्यर्था सांस फिर सांस न तो जपना क्यों कर से ये हम जब बतावांगे जो तो हमारा शिष्य हो जाएगा जो कि बंदी छोड़ कबीर साहब ने गरीबदासियों को बताया उन्होंने आगे अपने शिष्यों को बताती हुई हमें बताया सकल सोन में साहेब मौला रक्तन पीतन काला धोला <clears throat> और निर्बानी नजर न आया जोग ज्ञान क्या रीज रिजाया यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाने हम सतगुरु बैठे न्यू जाने जैनी जुलम गुलम यो गैला जैसे हो तेली का बैला घर ही कोस पचास प्यारे भूल गए प्यारा भूल गए यो साहेब दरबारा जैनी जलम जैनी जन्म जुआ जो हारो पांचों इंद्री कस कस मारो मन मूर्ति का मर्म न जाने ताते जन्म जन्म हो सुआना अब देखो बंदी छोड़ के हैं जैनी जन्म जुआजो हारो और पांचों इंद्री कसकस मारो फिर कहें कि मन मूर्ति का मर्म न जाने तात जन्म जन हो सुना वो कहते हैं कि मूर्ति जो है उसकी महावीर जी की उसके दर्शन से मातर से हमारी जो है मुक्ति हो जाएगी और वो उनके मंत्रों से इतनी सिद्धि आ जाती है उनमें वो दिन फिक्स कर देते हैं इतने दिन अनुष्ठान करते हैं <clears throat> कि उस दिन फलाने जैन मंदिर में आपा घंटी बाज जाएंगी बारह बजे ठीक उस अनुष्ठान की सिद्धि से ठीक रात्रि में बारह बजे रोहतक में बजाई थी पीछे आपने देखा होगा हाथियों की गुणियों हाथियों आए थे मेरे नंगे भी हंड आया करते हैं जैनी और दूसरे भी आते थे उस समय उन्हें फिक्स में रखा था रात्रि के ठीक बारह बजे घंटी आपा बाजी थी और महाराज ने कहा बस हो गए मुक्त फिर सारे अब कैसे जोग देते हैं जैनी सारे बाढ़ पाड़ा कर तो सारे शरीर के कहीं पर भी हैं और नो खसा खस पाड़ेंगे और जाख्या पानी आ गया ना दोबारा फिर बाढ़ बढ़ाओ और फिर पड़वाओ रोना नहीं चाहिए जब उसको जोग मिले तब बंदी छोड़ महाराज के नगन निराशा तनकू त्रासा पशु प्राणी समान समानी कुत्ते के समान चाहिए क्या हुआ जब इतना शरीर को दुख देना जैनी जन्म जुआ जो हारो पांचों इंद्री कस कस मारो मन मूर्ति का मरम न जान्या ताते जन्म जन्म हो सवाना उते जैनी जलथल पुरुष विराज जाकी सकल घड़ावल बाज घट घट में निर्गुण निर्वाणी ही जैनी जाकी सार न जानी अब दो घंटी घड़ावल बजा के की खुश हो गया उसकी सारे बाजन से बीरा असली स्थान पर वापस बाजन लाग रही तो वहां ध्यान लगा और वहां पहुंच जाए इन सिद्धियांत तो लोग रिझा के मत बेकू बने और बना काया माया प्राण और पिंडा जाम बसे काया माया पिंड प्राणा जाम बसे अल्लाह रईमाना दास गरीब मेर से पाइये देवल धामना भटका खाइये अब निचोड़ करते हैं कि भाई मेहर से पाइये पूरा सतगुरु हो और फिर उसकी रजा जिस पर हो जा यानी उसकी रजा बनानी है उसको खुश करना है और फिर वो आपको वो मंत्र नाम वो सार शब्द बतावे जब तेरी मुक्ति होगी ना इन चक्रांत नहीं हो सकती अब कहते हैं साहेब कबीर आजा आत्मा तुहे पुकारते तेरे हाथ में चाबी हो गुरु सार सतलोक द्वार की साहेब कबीर आज आत्मा हे पुकारती तेरे हाथ में चाबी हो सतगु सतलोक द्वार की आ, बाईस लाख वर्ष तप की ना एक तपस्वी करण कहाया तपसे राज राज मध्यमानम नरक ठिकाना पाया बाईस लाख बरस तप कीना एक तपस्वी करण कहाया से राज राज मध्यमानम नरक ठिकाना पाया शर धुन के पसताया या थी बजी और की तेरे हाथ में चाबी हो सत गुरु सत लोक दुआरी साहेब कबीर आ तुहे तो पुकारती तेरे हाथ में चाबी हो सत गुरु सत लोक योग विधि से सुख देव ऋषि तीनों लोक फिर आव उड़ा फिर पक्षी की तरिया ना मोक्ष द्वारा पावे योग विधि से सुख देव ऋषि तीनों लोक फिर आव ओढ़ा फिर पक्षी की तरिया न मोक्ष दवारा पा <clears throat> हट योगी भव भटका खावे न पावे युक्ति सबद सार की तेरे हाथ में चाबी ओ सतगुरु सतलोक द्वार की साहेब कबीर जा आत्मा तो हे पुकारती तेरे हाथ में चाबी ओ सतगुरु सतलोक द्वार की आ पांच बखत नमाज गुजारे करे शाम को खूना बिना बंदगी बोक बनोगे रहो जूनम जूना पांच बखत नमाज गुजारे करे शाम को खूना बिना बंदगी बोक बनेंगे रह जुलम जुना खर दे ही धर अपला तू वो मट्टी डोव कुमार की तेरे हाथ में चाबी हो सत गुरु सतलोक दुआ हर की साहेब कबे हेरे आजात तो हे पुकारती तेरे हाथ में चाबी ओ सतगुरु कह दो आ फिर कहें वेद पुराण शास्त्र पढ़ते कथा कह चतलाक गीता जी का सार सुनावे मीठी बात बना के वेद पुराण शास्त्र पढ़ते कथा कह चतला के गीता जी का सार सुनावे मीठी बात बना के बे रामायण महाभारत समझा के कथा कहे उसे काल करता हर की वो तेरे हाथ में चाबी हो सत सतलोक साहेब कभी आ आजा आत्मा तो हे पुकारती तेरे हाथ में चाबी हो गुरु तलोक दवा अरबिया रंगी हरी रंग में किसी जीव दया दर्शाई केस उखाड़े वस्त्र उतारे एक कुतिया की प्यास बुझाई राबिया रंगी थी रंग में किसी जीव दया दर्शाई केस उखाड़े वस्तर उतारे सुनही की प्यास बुझाई मंजल नमक काले आई थी प्यासी दीदार की ओ तेरे हाथ मंजलती नमक काले आई फिर भी रहेगी वार ही तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक दो साहेब कबीर आजा आत्मा तुहे पुकार पुकारते ओ तेरे हाथ में चाबी हो सत सतलोक राबिया से बही बंसरी फिर गण का ख्याल बनाया गण का से फिर वही कमाली जब तेरा सरना पाया आप राबिया से बही बंसुरी फिर गण का ख्याल बनाया गण का से फिर वही कमाली जब तेरा सरना पाया तेरी शरण में आनंद आया थी प्यासी दीदार की तेरे हाथ में चाबियो सतगुरु सतलोक दवार की साहेब को वीर आज आत्मा तो हे पुकारती तेरे हाथ में चाबियो सतगुरु तलोक दवार सत साहेब आपको एक शब्द और सुनाते हैं कि जैसे कितना दुखी होकर क्या क्या कहना पड़ा हमारे हम अज्ञानियों को यानी गुस्से तक भी आए से अपने बच्चे समझ के इन सब भक्तों को सब पंथों को समझाया परंतु हम नहीं मानते जो कोई बालक जवान हो जाना तो बाबू की नहीं मानना रहा थोड़ा सा वो कितनी अच्छी कह ले पर और कम बढ़ा दे उसकी साची मानना कर या सर्वत बीमारी हो रिशाज की को ना ना ये बंदी छोड़ खुद परमात्मा थे जो कम हमारा हमारी हमारा ज्ञान किन्हों ने सुनिया बंदी छोड़ के महारी नहीं सुनते मनमुखी साधना करते फिरते अब देखो छो माह कह रहे सतगुरु महाराज ये एक लाइन हागली ये नहीं करना चाहता मैं या ज्यादा गुस्से की कह रखी बंदी छोड़ना इससे आगे है प्रश्न सात सौ बाईस पे आप पढ़ लियो दरबार साहब में पर इससे आगे आगे कहूं मतलब काफी काफी गुस्से में आकर समझ लो अपने बच्चे समझ कर कह रखा है कि ना हक फिरते दौड़े दौड़े हम क्या उस बात ने नहीं समझते ये निर्भाग और पूरा जग्गा में चले जाएंगे कोई नून जा रहा है को काशी में को प्रयाग में नाम नहीं जपते कोई पूरब कोई पश्चिम धावे कोई दक्षिण कोई उत्तर जावे आखर पूज पत्थर पानी ही जम के दवार धूमा धामी सालग सला नवाम नवाम शीसम भूल गए साहेब जगदीशम कंकर बांध कह कर तारा मार पड़ेगी जम के द्वारा पत्थर परमेश्वर ठहरावे मूरख बाणा बरद लजावे कंठी माला तिलक जनेऊ जम किंकर कर है बनेऊ तन पाखंड करो मत भाई ही मुक्ति पुरातम तुम नहीं पाई जटा जूट है बदरा भेखम तन पाखंड करत है शेखम न कहीं पाखंडान छोड़ दो ना तो लाल कपड़े की हो सकता ना जटा बढ़ाण की और ना कोई कंठी ना तलक ना माला और भाई ये जटा जूट ये केवल नाम भजन पीछा छूटेगा इन सिद्धियां भी काम नहीं चलता तन पाखंड करो मत भाई भक्ति पुरातम तुम नहीं पाई जटा झूठ है भदरा बेखम तन पाखंड करते हैं शेखम शेली सिंगी मुद्रा काना ऊंचे आसन भया देवाना कान चराए बसम रमाई जोगी जुगत न जानी भाई सन्यासी बैरागी बागम बम्बी बीच बनेंगे नागम तीर्थ बरथ अर्थ नहीं जा पावे राम बजय तो मुक्ति कराव अब राम का शबदान ने फिर हमारे मन में वह खटकेगी कि रामचंद्र के बारे में कह रहे नहीं हम पूर्ण ब्रह्म राम की तरफ सतपुरुष राम का इशारा कबीर राम की तरफ हमारा इशारा जैसे रामचंद्र राम की तरफ तीन लोग की का उपासना का है और हमारा केवल कबीर राम की तरफ इशारा है राम भजे तो मुक्ति कराऊं मन मन मथुरा तन द्वारे का काया काशी खेत गरीब दासिया भक्ति है दर्श दर्पण स्वेहित जल की बूंद महल जिन कीना वो साहेब तु, तो- साहेब तुम क्यों नहीं चीना जिन जिन साहेब यो महल बनाया सो तो तुमरे याद नहीं आया गुनहगार बेकार दीवाने समर्थ साहेब क्यों नहीं जाने साहेब कहें भगवान परमात्मा समर्थ जो सर्वशक्तिमान है पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अंत कोट कीनी तकसीरम हाजिर ना दामन गिरम हाजिर ना मादर बक्ता वो साहेब वो जयगा नुक्ता नुक्ते ऊपर भी जयगा रे कोट कर्म जर जाही तुम्हारी सतपद अलख निरंजन पा धावो सतपद अलख निरंजन सतपद अब निरंजन अलख निरंजन का तात्पर्य क्या होता है नीर जमाम अंजन अंजन कहते हैं माया को और माया रहित परमात्मा निर बिना माया अंजन रहित अरंजन माने माया माया रहित अलख ओ ईश्वर जो दर्शन अवर्णनीय हो ब्रह्म भी अलख निरंजन है कवावस है लेकिन ये माया सहित निरंजन है और इससे ऊपर जो असली निरंजन जो सही माया रहित है वो सतपुरुष है अब यहां कई अनुदान में सोच नहीं यहां नो अलख अलख निरंजन जाओ नहीं सतपद अलख निरंजन जाओ सैंस सौ लेख लावो इक्कीस हजार छह सौ सात सौ ये अपना लेख लाओ भाई सैंस इक्कीसो छह सौ जापम एक इक्कीस हजार छह सौ जाप सांस के हैं सो जोगी है आपो आपम मूर्ति अजर बजर तन पिंडा सोने विचरत है नौ हूं खंडा तरलोकी तरलोकी तत्काल सिधारे आप तरे ओरन को सूरत नृत मन पवन निराशा भंवर गुफा में की जय बासा त्रिकुटिक महल में अमृत पीवे गरीब दास सो जुग जुग जीवे अब अमृत यहाँ के है कि अपने ईश्वर का रस पीवे त्रिकुटी आपको बताया था त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है जहां पर सबके राजभवन से सब विदेशों के जो जिस राजभवन में जाएगा उसका संपर्क उसी देश से करवा दिया जाएगा तो वहां पर कबीर साहब भी दर्शन देते हैं जो जिस नाम का हम जाप करके जाएंगे हमने वही अपना इष्ट वहां सामने गुरु रूप में या इष्ट रूप में मिलेगा तो यहाँ कहते त्रिकुटी महल में अमृत पीवो गरीब दास नो जुग जुग जीवो एक रतन बहुपारख आई ही जाकी कीमत किन्हे ने पाई रतन अमोली मोलन तोलम हीरे जलाल जड़े चैंडोलम को भारी को बीने हल्का कैसा करता है इस कल का अकल अखंड पार नहीं पावे सतगुरु मिले तो तत दर्शावे अंत कोट ब्रह्मंड परेखा सो साह तुम कैसे देखा एक ब्रह्मंड तक तो पार नहीं होंदा शंकर भगवान सबसे ज्यादा समाधि होने होते हैं और उन्होंने भी नो कहे ज्योत निरंजन के दर्शन नहीं होने सतानवे बार कोशिश कर ली पर वो नहीं हो पाए और वो अनंत कोट ब्रह्मंड के पार है उसने तुमने क्यों कर देख लिया वहां केवल नो कह मेरा सार नाम या अपने वहां लेकर जागा मकर तार की देहू डोरी ताप चिन्हो हंसा पुरुष के सोरी नो कहे ऊपर से मकर तार एक धागा गेरूंगा अपने अंश के लिए और उसकी सुरत उसके साथ उस सतलोक में आ जाएगी ना उसमें कोई तंक रहेगा ना कोई रास्ता भूलेगा अंत कोट ब्रह्मण पर रेखा सो साहेब तुम कैसे देखा सूक्ष्म रूप स्वरूप लखाया जिन कारण स्थूल बनाया ये शरीर संदर्भ में यह स्थूल फिर सूक्ष्म कारण महाकारण कवल्य महाकवल्य इस प्रकार मतलब नौ कई आवरणा के भीतर कई बना करके इसके ऊपर शरीर और आत्मा ढक रखी से जी ने देवता भगवान ने सूक्ष्म कारण और अस्थूलम इनका कहो कहा निज मूलम शेष बदन पर सूक्ष्म नाचे नी अक्षर पद को ना बाचे शेष शेष मुख निश्चन गावे ब्रह्मा दीक्षे पार न पावे तीन चरण चिंतामणि ईसम नाभ कमल में हर और हृदय शीसम कमल नयन निर, निर्गुण निर्धारा शेष मुकुट पर ब्रह्म द्वारा जटा कुंडली कहिए सोही ग्रीव दास्यु ध्यान समोही अब ये जटा कुंडली वो धान वो धाम है वो स्थान है जो कि निरंजन लोक केंद्र है और वहां से फिर जीव ऊपर न चालस है और निरंजन लोक में आकर वह धाम जटा कुंडली पा गंगा पड़ी उससे आकर शिवलोक में आई फिर यहां पर गौमुख में आकर गिर जाती है तो कहते हैं उस जटा कुंडली वो धाम है वहां पर शिव साहेब धान लगाते हैं उस स्थान पर जटा कुंडली पद परवाना सूक्ष्म रूप आदि निर्वाणा जड़ जल बूढ़ नहीं अग्न जराई जाकी पूजा करो रे भाई खड़गबान शस्त्रनी बेदम जाकू कैसे पावे बेदम वेद पुराणो लिखा ना जाई पंडित कहो कहाँ गुण गाई पिंड ब्रह्मंड दो हूं से न्यारा पिंड से और इस ब्रह्मंड तभी दूर सतलोक न्यारा से हद बेहद से अगम अपारा नैनो नाल न रहे निर्मोही देखो हरदम पलक समोई जिनकी सतमार्ग दर्शन हो रहा है सच्चे नाम का जाप करता है वही देख सकते हैं जो अलबीन पलक का भौरा जाका ध्यान धरे शिव गौरा सिंहासन आसन ने जाके गरीब दास बाणी बाखे गरीबदास महाराज के मैं साची कहूं सू भाई बोल सतगुरुदेव